और स्वयं तो ऊंट पर चढ़े हुए अब सोचो सारी विश्व सृष्टि कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम कूट उसके ऊपर क्या हमारा कोई भार होता है दूसरी बात है वो तो भार डाल दिया भगवान हमारे कहते हैं रहीम जी खान खाना रहीम अपने रियासत से छिप करके नवाब से छिप करके और चित्रकूट में जाते थे और वहां जैसे तैसे अपनी गुजर करके गुजर करके रहते थे तो एक दिन वो भड़भूजे के यहाँ हार झोंक रहे थे वो हार कि वहां से अना अना दो आना मिलेगा तो उससे वो अपनी गुजर करेंगे हे नवाब तो महाराज रीवा के राजा उधर से कहीं से निकले नजर पड़ गई कि ये तो खान खाना रही है और फाड़ भोंक रहे हैं तो राजा ने कहा रीवा नरेश ने जाति सिर अखबार तो अब झोंकत भार कर जिसके सिर पर रियासत का इतना बड़ा भार है वो इतना अब यहाँ भार कैसे झोंक रहा है जाके सिर अखबार तो अब झोंकत भार कस रहीम जी तुरंत बोले रहीम उतरे पार झोंक भाड़ में भार कस रहीमन उतरे पार झोंक भार में भार कस रहीम जी भाड़ में अपना सब बार झोंक के और पहाड़ उतर गए हाँ। तो नारायण ये अपने सिर पर जो भार है हमारे बिना ये बिगड़ जाएगा हमारे विचार के बिना ये बिगड़ जाएगा हमारे सोच के बिना ये बिगड़ जाएगा वो अपना दिमाग खराब करना और जो सारी विश्व सृष्टि को संभाल रहा है जिसके एक एक रोग भोग में अनंत कोटिन ब्रह्मांड है? उसके लिए इस तिनके का कहीं इस तिनके का कहीं पता है अरे झूठे अभिमान बोझ को तो अभिमान एक शेख के घर में गए हो और उन्होंने दिखाया अब ये समझो कि ये कोई बीस पच्चीस बरस पहले की बात है यही बम्बई है बम्बई में पहले पहले तो सन पैंतीस में आ रहे थे ये तो हम सन पचास से लाकर सन की बात कर रहे हैं भगवान बड़ी भारी कोठी बड़ा भारी बंगला वो लाल उनके घर में पांच सात कोठी बन सके ऐसा और घुमाया देखो महाराज ने ये पौधा अमुक देश से मंगाया है ये पौधा अमुक देश से मंगाया है ना ये ये पुरानी वस्तुएं खरीद खरीद करके पूरा सत्व की चीजें ये नब्बे हजार में मूर्ति दीजिए महाराज सब बता महाराज एक नक्शा रखा हुआ था उनके धरती का नक्शा पूरी तरह विश्व विश्व का नक्शा बोले भाई सेठ जी क्या है बोले महाराज धरती का नक्शा शेष जी इसमें भारत वर्ष कहाँ है ये है धरती के नक्शे में ये है छोटा सा भारतवर्ष इसमें बम्बई कहाँ है कि ये दिल्ली है महाराज देखो ये पश्चिम समुद्र ये दिल्ली जो है ना कि ये बम्बई है इसमें तुम्हारी कोठी कहाँ है महाराज धरती के नक्शे में हमारी कोठी कहाँ है तो धरती की कोठी में धरती के नक्शे में तुम्हारी कोठी तो नहीं है परंतु परमात्मा की अद्वितीयता में अनंतता में अपरिच्छिन्नता में तुम्हारा अहंकार और अहम कितना बड़ा है सोचो तो बोला नहीं भाई एक बात आपको समझाने के लिए ये तो परमेश्वर सर्वधर्मान परित्यज्य कम शरण अहम त्वा सर्वता मोक्षयिष्यामि मां माम एकम अभी माम कहता है भगवान का माम क्या होगा भगवान का माम क्या है ये बात आपको संकल्प home run. Oh. एक अद्भुत बात पेश करो भगवान श्री कृष्ण जीव को धर्म छोड़ने का आदेश करते हैं और पाप छुड़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं की बात हो गई चाहिए तो ऐसे कि तुम सब पाप छोड़कर मेरे साथ आओ मैं सब धर्मों का फल तुमको दे दूंगा तुम्हें धर्मात्मा बना दूंगा ऐसे बोलना चाहिए बुराई छोड़ के आओ तुम और सारी अच्छाई जो हमारे पास रखी है वो मैं तुम्हारे अंदर डाल दूंगा परंतु भगवान ने बिल्कुल उल्टी बात कही एक महात्मा ने उसका आस्वादन किया है आस्वादन किया है माने मजा लिया है मजा भगवान की बातों का मजा लेना समझदारी की बात दूसरी होती है और मजा लेने की बात दूसरी होती है जैसे हम ही कोई बात बोलते हैं तो कभी हमारे सामने बैठा हुआ आदमी उसको काट देता है क्या बोलते हैं तो दूसरा आदमी बोलता है बाबा काट कूट मत करो इस बात का मजा लो अपने सामने वाला व्यक्ति एक बार गप भी हाके कहानी भी सुना रहे सुनी सुनाई बात भी सुना रहे तो उसमें अकल लड़ाने की जगह बहस करने की जगह उसका मजा लेना ये एक अच्छी आदत है अपने जीवन में हमारे साई के सत्संग में ये नियम था कि चाहे पचास बार सुनी सुनी हुई बात सत्ता सुना रहा हो तो ये जाहिर बिल्कुल नहीं करना कि ये बात हमारी सुनी हुई है नहीं तो उसके बोलने का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा तो बोलने वाले का मजा भी किरकिरा करना अपना धर्म नहीं है ऐसी आंख करके उसकी ओर उत्सुकता से देखो हाँ। जैसे ये बात कभी सुनी न हो बजा लो बजा लो किसी बात में से घर में जाके इसको कैसे करेंगे ये सीखना ये दूसरी बात है और उसको समझना दूसरी बात है और उसका मजा लेना ये तीसरी बात है तो करने की बात धर्म की होती है सभा में धर्म की बात सुन के आओ और घर में करो और समझने की बात ज्ञान की बात होती है पहली शक्ति है दूसरी चित्त की और तीसरी बात होती है आनंद की वाह सुनते जाओ मजा लेते जाओ सुनते जाओ मजा लेते जाओ स्वाद लेना रस लेना तो एक महात्मा ने श्री कृष्ण की बात का मजा लिया वो बोलते हैं कि सर्वा गीता मया गीता तत्र प्राप्तो विनिश्चय सर्वधर्म परित्यागी सर्व पाप ही प्रमुख थे मैं सारी गीता खूब खूब पढ़ी और पढ़ के वहाँ से ये निश्चय निकाला ये निर्णय निकाला कि जो सब धर्मों का परित्याग कर देता है वो सब पापों से छूट जाता है देखो मजेदार है सर्वधर्म परित्यागी और सर्व ही प्रमुख्यत है जो सब धर्मों का परित्याग कर देता है वो सब पापों से छूट जाता है अरे बाप क्या बोल रहे हो अब आप एक लौकिक दृष्टान एक आदमी ने कोई अच्छा काम किया सरकार ने उसके लिए पुरस्कार की घोषणा की सौ पांच हजार रुपया पुरस्कार मिलेगा उसने कोई गलती की समझे उसने कोई गलती की तो बोले भाई इसको जुर्माना कर दो जेल में भेज दो अब जिसको जुर्माना हुआ जेल की सजा हुई वो कहे मैं सजा का त्याग करता हूं तो सजा का त्याग कर सकता है जुर्माना छोड़ देने का या जेल की सजा छोड़ देने का अधिकार बुराई करने वाले को या जेल जाने वाले को नहीं है लेकिन जो पुरस्कार उसको मिला है वो छोड़ देने का अधिकार है उसको आ, वो सरकार से कहे आ, कि हम चाहते हैं इस रुपए को सरकार स्वयं भी किसी अच्छे काम में लगा दे किसी बाघ में लगा दे किसी विद्यालय में लगा दे यदि वो पुरस्कार की रकम को छोड़ दे तो सरकार स्वीकार कर सकते हैं लेकिन वो कहे कि मैं जुर्माने की रकम छोड़ता हूँ तो सरकार उसको माफ नहीं कर सकती तो जुर्माना या सजा माफ करना तो सरकार के हाथ में होता है और पुरस्कार को छोड़ देना ये साधारण मनुष्य के हाथ में होता है हम अपने धर्म का समर्पण कर सकते हैं परंतु अपनी बुराई का समर्पण कैसे कर सकते हैं हमारे घर में रोटी दाल बनी है हम किसी को खिला सकते हैं पर हमारे घर में कोई जहर है तो उसको किसी को नहीं खिला सकते तो आप देखो अब भगवान कहते हैं कि देखो भाई धर्म को तो मान मान के तुमने किया है बड़ी मुश्किल से हाँ, हाँ। धर्म करने में स्वाभाविक रुचि लोगों की नहीं होती वो तो जन्म जन्मांतर का संस्कार हो तब स्वाभाविक रुचि होती है ईश्वर की कृपा हो शास्त्र में श्रद्धा हो अपने आचार्यों पर और उनकी आज्ञा में श्रद्धा हो तब मनुष्य धर्म करता है और पाप जो है ये अनादिकाल की वासना से इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इनको सिखाना नहीं पड़ता खुद किए जाते हैं मैंने अब तो सुना है कि जेब काटना सिखाने के लिए जेब कतरों ने स्कूल भी बना रखा है पर वो गुप्त रूप से चलता है चोरी चोरी सिखाने के लिए चोरों का पर काम क्रोध लोभ की शिक्षा देने के लिए कोई विद्यालय नहीं होता है मनुष्य जन्म से ही काम क्रोध लोभ सीख लेता है संस्कार से सीखता है नाना नानी दादा दादी माँ बाप अपने पूर्वजन गर्भ के समय का खान पान पैदा होने के बाद खान पान और संस्कार तो अपने आप सीख लेता है काम क्रोध लोग सीखने के लिए विद्यालय में नहीं जाना पड़ता ये तो ऐसे पीछे पड़े हैं महाराज की न चाहो तब भी तुम्हारे जीवन में जगह निकाल के ध्यान परंतु धर्म सिखाने के लिए तो विद्यालय होते हैं मजहबी लोग बादरी लोग मौलवी लोग पुरोहित लोग पंडित लोग दस्तूर लोग सिखाते हैं कि ऐसे धर्म करना तो जीव के लिए धर्म छोड़ना तो बहुत है सर्वधर्मान तरीके लेकिन पाप छोड़ देना ये जीव के वश में नहीं है छोड़ते छोड़ते भी ये कहीं न कहीं घुस जाता है ओम करते करते भी लकड़ी में जौ में काकल्य में बहुत से जीव जंतु जल जाते हैं चाहे किसी को भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई तो बनाओ परंतु उसमें भी कीड़े भरते हैं तो भगवान ने कहा ठीक है पापों से छूट जाना ये तुम्हारे बस की नहीं है इससे मैं छुड़ा दूंगा परंतु ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा धर्म तो तुम अपने साथ रखो और धर्म का फल स्वयं भोगना चाह रहे हो और मैं पापों से और पाप के फल दुख से मैं छुड़ा दूंगा ऐसा नहीं होगा आप देखो सर्वधर्मान परिस्थिति का एक दूसरा पहलू ये है ये है दूसरा प्रकाश भगवान ने कहा तुम धर्म का परित्याग करो फिर सर्वधर्म का परित्याग धर्म का आश्रय छोड़ दो भगवान का आश्रय लो एक पक्ष है सब धर्म निष्काम भाव से करो और भगवान की शरण लो निष्काम भाव से ये दूसरा पक्ष है संन्यास ग्रहण करो ये तीसरा पक्ष और भक्त लोग तो इसका अर्थ करते हैं परित्यज्य का अर्थ है भगवती समर्थ भगवती निमित्त भगवती विषय परिच्छेद्य समर्थ भगवान ही हृदय में बैठ करके धर्म करने की प्रेरणा देता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही धर्म किया जाता है हाँ। इसको निमित्त शब्द और विषय शब्द बोलते हैं भगवती समर्थ्या हे प्रभु मैं कुछ न करता हूँ न कराता हूँ तुम ही करते कराते हो यत्रता यत्र ऋष्यामी तत्सर्वम न मया करता त्वया कृतम तू फलभुक त्वमेव मधुसूदन जो कुछ किया और जो कुछ करूंगा वो न मैंने किया और न मैं करूंगा त्वया कृतम तू फलभुक त्वमेव मधुसूदन तुमने किया और तुम ही करोगे इसलिए बाबा को कुछ फल मिलने वाला होए वो हमको न मिले तुमको मिले हमने अब तक जो धर्म किया है जो यज्ञ किया है दान किया है शुभ कर्म किया है हाँ, उसका फल सुख हमको मिलने वाला है धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार तो उसका वो जो फल है सुख वो हम तुमको अर्पित करते हैं सर्वधर्मान परिचय बोले भाई पाप भी अर्पण कर दो बोले राम राम राम पाप का फल तो दुख होता है हम जिससे प्रेम करते हैं उसको अपना पाप कैसे अर्पित करेंगे पाप अर्पित करेंगे तो उसको दुख होगा ना जिससे हम प्रेम करते हैं उसको दुख मिलने की कोई संभावना हो तो उस संभावना को दूर करने के लिए भी हम अपने को नरक में डालने को तैयार अब हम अपना पाप उसको अर्पित करें पापों का फल दुख अर्पित करें ये कैसे हो सकता है तो भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हारे प्रेम को समझ गया तुम धर्म को अर्पित करने को तैयार हो अपना सुख को अर्पित करने को तैयार हो परंतु तुम्हारे हृदय में प्रेम इतना है कि अपना पाप अर्पित करना नहीं चाहते हो क्योंकि पाप अर्पित करोगे तो पाप का फल तो दुख है दुख अर्पण करना हुआ और ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छी चीज अर्पित करो तो हजार गुना हो जाती है और बुरी चीज अर्पित करो तो कहीं वो भी हजार गुना हो जाए तो है हजार गुना पाप हजार गुना दुख तो मैं समझ गया तुम्हारे हृदय की बात मैं समझ गया अच्छा तुम पुण्य पुण्य अर्पित कर दो और पुण्य का फल सुख अर्पित कर दो रह गए पाप तो उनके नाश की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ उनके छुड़ाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ अहम स्वा सर्व पापे पर बात यह है कि जब तक तुम चाहोगे कि धर्म मेरे पास रहे और पाप छूट जाए तो ऐसा नहीं होगा भगवान ने जो समर्पण की विद्या बताई उसमें ये बताया यद करोशी यदश्नासी यदुषी तदा यद तपस्यति कौंतेय तत्पुरुषमदर्पण शुभा शुभ फलैरव मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्य सभी वैष्णवाचार्यों ने ये निश्चय किया कि भगवान को पुण्य तो अर्पण करना चाहिए जब पुण्य करो तब कहो श्री कृष्णार्पण मस्तु प्रत्येक कर्म कर्म के अंत में बोलो श्री कृष्णार्पणमस्तु इदमग्नये न मम इदमिन्द्राय न मम इदं भगवते वासुदेवाय न मम ये अग्नि देवता के लिए है मेरे लिए नहीं मेरा नहीं है ये इंद्र देवता के लिए है मेरे लिए नहीं मेरा नहीं है ये भगवान वासुदेव के लिए है मेरे लिए नहीं मेरा नहीं न मामा अहिर्बुद्ध संहिता में तो कहा कि इसी न मामा को न मामा मेरा नहीं मम न हाँ, इसी को नमः बोलते हैं नममा तो छोटा करके नमः बना दिया हाँ, न में इसी नमः तो मेरा नहीं तेरा अहिर्भुद्र संहिता पंचरात्र का बहुत अद्भुत ग्रंथ है और विशाल ग्रंथ है उसमें तो वो शब्द पहले अस्त्र शस्त्र बनाते थे ना ब्रह्मास्त्र और ऋषि का अस्त्र वायव्यास्त्र मेघास्त्र उनके बनाने की विधि भी लिखी हुई है कि ये कैसे बनाए जाते उनके मन तो उनकी रीति अकारादिक्रम से उसमें सुदर्शन के सहस्त्र नाम है बहुत अद्भुत आयुर्बुद्ध ने सकता पंचरात्रों का क्रम है बोले ना मामा मेरा नहीं तो बोले कि भाई भगवान को अच्छी अच्छी अर्पित कर दो तो अच्छे तो गए भगवान के पास और अपने पास रह गए बुरे तो अच्छे अच्छे भगवान को अर्पण करने के बाद जब अपने पास बुरे रहे तो बुरे का दुख अपने को भोगना पड़ेगा तब तो पुण्यार्पण के बाद हम तो दुखी ही रहेंगे बोले नहीं भगवान ने कहा ये बात नहीं है तो वैष्णवाचार्यों ने इसकी दुखी ये निकाली कि अच्छे अच्छे तो भगवान को अर्पित कर दो और बुरे बुरे का निवेदन कर दो निवेदन करना दूसरी चीज है और अर्पित करना दूसरी चीज है माने ये कबूल कर लो स्वीकार कर लो भगवान के सामने हाँ, कि मैंने ये बुराई की है मैंने ये बुराई की है मैंने ये बुराई की है हे प्रभु हम आपकी जानकारी में देते हैं ऐसे नहीं कि हे प्रभु आप तो जानते ही हो ये बात गलत है हो कि आप तो सर्वज्ञ हैं आप तो जानते ही हैं हाँ, हाँ। <laughs> ये बात नहीं ये चोरी है हाँ, माने हम अपने मुंह से अपनी बुराई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तब कहते हैं हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं आप तो जानते हैं उनको मुंह से बोल के निकालना पड़ता है कि हमारे अंदर ये गलती है हमारे अंदर ये दोष है अच्छा हमारे हमारे अंदर तो ये दोष बहुत पुराना है आप नहीं जानते थे अरे बाबा जानते हो कि न जानते हो तुमने तो कहा नहीं और दुनिया भर की बात अगर बिना बिताए बताए आदमी जाने तो वो पागल होगा वो विक्षेप होगा विक्षिप्त होगा क्यों जानना तो समाचार जो ने कहा कि नहीं हाँ, हाँ अपने दोषों को समझ के जान के उन्हें भगवान के प्रति निवेदन करो अर्पण मत करो निवेदन करो कि हमारे अंदर ये ये दोष है आप चाहें तो इसका दंड दें सजा दें और आप चाहें तो माफ कर दें आप तो सर्वसमर्थ हैं सब कुछ कर सकते हैं हाँ, आप सजा दें तो आपकी दी हुई सजा हम भोगना चाहते हैं हमारे पाप जो हमको सजा देना चाहते हैं सजा तो वही होगी पाप भी देंगे भगवान भी देंगे लेकिन पाप की दी हुई सजा दूसरी होती है और अपने प्यारे भगवान की दी हुई सजा दूसरी होती है हो अपने प्यारे के हाथ की मार जो है वो प्यार से भी बढ़िया होती है प्यार में यदि ममता होती है तो मार में अतिशय ममता होती है अतिशय ममता होती है हाँ, हाँ, हम सजा लेंगे पर तुम्हारे हाथों से लेंगे तुम हमें दंड दो चाहे माफ कर दो पर हाथ तुम्हारा होना चाहिए तुम्हारा हाथ दिखता रहे कि प्रभु अपने हाथ से आ, हाँ, ये प्यार दे रहा है ये मार दे रहा है तो हमको सजा भोगने में आ, तो सुख भोगने से भी ज्यादा मजा आएगा सजा में मजा आए हाँ। अगर वो प्यारे का दिया हुआ हो तुम तो सजा देखते हो देने वाले को नहीं देखते हो तो निवेदन कर दिया अब भगवान का कहना है कि तुम काम करते हो दो तो दस करो से या दस नाथ से जो खाते हो तो भी अर्पित करो बिल्कुल डरने की चीज नहीं है कि पहले हम हाँ, थाली में रख के पहले भगवान को अर्पित कर ले तब खाएं परमात्माओं की बात मैं नहीं कहता हूँ और संतों की भक्तों की बात एक बार हम गए थे कहीं बलिया में गंगा किनारे दया छपरा दया छपरा गए तो एक संत वहाँ आए थे तो उनके साथ बैठे भोजन करने को उसका शरीर बढ़ता जा रहा था महाराज भोग लग गया पानी घुमा गया दिया गया भोजन करना शुरू हो गया भोग लगने के बाद भोग लगा के भोजन भोजन करने लगे उसके बाद वो दही आया दही पहले पड़ता नहीं गया था तो किसी ने कहा भाई भोग नहीं लगा दही का तो हम नहीं खाएंगे किसी ने कहा हम बिना भोग लगाए भी खा लेते हैं कोई बात नहीं एक संत को जब दही परसा गया तब फिर से उन्होंने पानी उठाया भोजन तो कर रहे थे फिर से पानी लिया हाथ में और भगवान को अर्पित कर दिया बोले कि क्या करते हैं तो बोले कि हमारा उनका ऐसे ही रिश्ता है हाँ, वे हमारा जूठा खाते हैं हम उनका जूठा खाते हैं हाँ, है ना हम अपने मुंह में डालते हैं तो थाली में ही वो खाते हो तो बात नहीं और पहले खा लेते हो तो बात नहीं जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो मुंह के भीतर बैठ के भी वो खाते हैं हमारा उनका रिश्ता ऐसा है हम नरो भूतवा हमारा प्राणा पान समायुक्त पदाम्य नम चतुर्विधम भगवान हमारे केवल स्वामी थोड़े ही हैं हमारे पुत्र भी हैं हमारे मित्र भी हैं हमारे पति भी हैं हमारे प्रियतम भी हैं प्रेयसी और प्रियतम में क्या होता है उच्छिष्ट तत्र उच्छिष्ट एवं परमम पावित्र्यम आवहती जो जूठा नहीं है भगवान का वो अशुद्ध है जो जूठा नहीं है प्रेमी प्रियतम का वो अशुद्ध है और जो प्रेयसी प्रियतम का जूठा है क्योंकि वो परम पावित्र पवित्र है पावित्रियम आवहती परम पवित्रता है उसमें तत्र अभिनय एवं विनय आप प्रेम नगर की बात जानते हैं दिखाई करना वहां विनय है और विनयो अभिनय अभिनय करना अभिनय है ये प्रेम पत्थनम है वो संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है उसका नाम है प्रेम पत्थनम प्रेम नगर प्रेम नगर के चौकस काम है वो नए ही है वहां प्रियतम की कोई चीज चुरा ली और वो परेशान होते हैं पूछते हैं हाथ जोड़ते हैं कभी हाँ करो कभी ना करो कभी हाथ करो कभी है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे सौहनी हंसे देन है नक जाए प्रेम की बात था हाँ, प्रेम के नगर का कानून अलग ही होता है तो चौसठ कानून प्रेम नगर के होते हैं ये रसिकोत्संस की रचना है संस्कृत में अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है अच्छा जी तो प्रेम नगर के कानून तो वो बहुत भगवान को जप करो से जगत नास्ती यज्ञ हो से होम करो भगवान के लिए दान करो तो भगवान के लिए मत देखो ब्राह्मण है जी पढ़ा लिखा है योग्य है पढ़ा लिखा ढूंढना बड़ा मुश्किल है वो एक से एक अधिक पढ़े लिखे होते हैं तो दूसरा उसके सामने मूर्ख हो जाता है सदाचारी का एक से एक अधिक सदाचारी होते हैं तो दूसरा उसके सामने दुराचारी हो जाता है कत्ता का सदाचारी दुराचारी की हिस्ट्री सीट मत खोलो पढ़े लिखे की परीक्षा मत करो भगवान की वस्तु भगवान को देते हैं स्वदीयम वस्तु गोविंद शुद्ध में वो समर्थ है चीज तुम्हारी है प्रभु हम तुमको देते हैं धर्म का दान दूसरा होता है उद्देश्य काले पात्र वो होता है धर्म का दान और ददात यद यद तपस्यति तत्पुरुष मदर्पणम भगवान को दो अपना कर्म भगवान को दो अपना भोजन भगवान को दो अपना हवन भगवान को दो अपना दान भगवान को दो अपनी तपस्या भगवान को दो तत्पुरुष का मदर्पण ऐसे हमारे एक मित्र इस श्लोक को ऐसे बोलते थे यद करोमी यद अश्नामी यजुहोमी ददामी यत यद तपस्यामी भगवन तत्करोमि स्वदर्पणम ऐसे बोलते थे प्रभु वो आपको अर्पण तो भगवान ने कहा भाई अच्छा है तुमने अच्छा अच्छा तो हमको अर्पण कर दिया और अब हमको अर्पण करने के बाद बुरे बुरे का तुम फल दुख भोगोगे तो दुनिया में फिर हमको कोई कुछ अर्पण नहीं करेगा अरे बाबा जो भगवान को अच्छाई अर्पण करता है वो तो उसके पास तो सिर्फ दुख ही रह जाता है पाप ही रह जाता है हमारी भक्ति का संप्रदाय ही लुप्त हो जाएगा तब भगवान ने कहा कि तुम तो अर्पण करोगे अच्छा अच्छा लेकिन मैं शुभा शुभ ही रेवम मोक्ष से कर्म बंधन बनई मैं सारे कर्म बंधन मिटा दूंगा वो चाहे शुभ के फल हो चाहे अशुभ के चाहे शुभ फल सुख देने वाले हो चाहे अशुभ फल दुख देने वाले हो मैं सबका बंटाधार करूंगा ऐसा हमको तो, अपना शुभ अर्पण करने के बाद हमारा भक्त दुखी हो जाए ये हम कैसे सह सकते हैं और समर्पण की प्रक्रिया शरणागति की प्रक्रिया बिल्कुल नष्ट हो जाएगी इसलिए अहम स्वा सर्व पापे हो मोक्ष इत्यादि असल में शरणागति भी क्षमा आचना भी उत्तम पुरुष के प्रति ही ठीक करती है तीन पुरुष के सामने वो ठीक नहीं करती है देखो शिवी के सामने कबूतर ने आत्मसमर्पण किया शरणागति दी उत्तम पुरुष उसने कहा हम मांस काट के दे देंगे परंतु कबूतर नहीं रहे इंद्र देवता साथ ही रह गए और शरणागत का संरक्षण भी एक धर्म है एक कथा आती है एक दिन कोई राजा बैठा था तो दुर्भाषा जी आए आ रहे थे दूर से दिख गए तो नारद जी ने उसको इशारा कर दिया ये कोई महात्मा है देखो कैसा तो मैला कुचैला कपड़ा पहनता है दुर्भाषा शब्द का संस्कृत में ही अर्थ होता है दुष्टम वासो यज्ञ असौ दुर्भाषा मैला कुचैला गंदा कपड़ा पहनता है टीथड़े ले लेके शरीर में लपेट लेता है और बस क्रोध में मगन रहता है देखो इसने बहुत लोगों को क्रोध कर करके बड़ी तकलीफ दी है राजा देखो तुम इसके पास मत जाना और हाँ, इससे जान पहचान मत करना इससे बोलना मत इसको नमस्कार मत करना अरे मेरे बाप ने कृष्ण ने दुर्वासा जी से पूछा महाराज हमारे योग्य सेवा बता दुर्वासा जी ने कहा बहुत बढ़िया आज तो हमारी अच्छी सेवा है अमुक राजा ने हमारा अपमान किया है प्रणाम नहीं किया है कि तो उसको सूर्यास्त से पहले ही मार डालना है हाँ, यही मैं सेवा मांगता हूं तुमसे दो हमको ये सेवा हे भगवान और कृष्ण ने कहा अच्छा राम ने कहा अच्छा अब महाराज नारद जी को ये बात पता लगी राजा ने कहा महाराज आपने <laughs> हमको प्रणाम करने को मना कर दिया इधर मौत आ गई हमारे सिर पर अब क्या करें तो नारद जी ने हमको बताया कि देखो भगवान से तो दुर्भाषा ने मारने की प्रतिज्ञा करवा ली लेकिन तुम चलो अर्जुन के पास चलो तुम हनुमान जी के पास तो दोनों कथा है वो वो ले गए हनुमान जी के पास ले गए और जाके उनकी शरण में हुआ बोले महाराज आज हमारी मौत आने वाली है एक राजा हमारा वध करने वाला है राम का नाम नहीं लिया हो एक राजा हमारा वध करने वाला है आपकी शरण में मैं आया हूँ हे हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए हनुमान जी ने सिर पे हाथ रख दिया अब है बेटा मेरी शरण में आया है तेरा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता हूं हाँ। अब महाराज राम की प्रतिज्ञा थी कि सूर्यास्त के पहले मार डालूंगा और हनुमान जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं इसकी रक्षा करूंगा शरणागत अब महाराज भगवान रामचंद्र की सेना और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सारी अयोध्या उस राजा के ऊपर चढ़ बैठी कि आज इसको मार डालेंगे हनुमान जी ने कहा कि देख तुझे काम कर चाहे मैं खड़ा रहूं कि बैठा रहूं कि दंडवत करूं कि दौड़ूं कि गिरूं तू मेरे पीछे बिल्कुल चिपका रहना मेरे पीठ के साथ बस इतना ही काम करना है तो राम जी हैं हैं जब राम जी तुमको मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं युद्ध करके उनके साथ नहीं बचाऊंगा उनके साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा तुम मेरे साथ चिपक जाओ हाँ, मेरी पीठ में बच जाओ तो महाराज बंध गया और जाके हाँ, हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया राम को तलाश हुई कि वो राजा कहाँ है कि वो राजा तो हनुमान जी के पीठ के साथ चिपका गया <laughs> कैसे मारे कैसे मारे हाँ, तो बोले कि आओ हनुमान जी अब लड़ाई करो तो बोले हाँ महाराज लड़ाई करेंगे आपके साथ और करताल हाथ में ली और नाचने लगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम महाराज राम जी के साथ नाचे हाँ, हाँ, और राम जी को मौका ही ना मिले कि बाण मारे उसको बल्कि उनकी आंख में भी कभी अपने नाम का संगीत सुन के हनुमान जी का प्रेम देख के कभी आंसू आ जाए कभी धनुष बाढ़ भी ढीले पड़ जाए बोले नहीं नहीं ठहरो मारेंगे हमने दुर्भाषा जी से प्रतिज्ञा की अब महाराज दो पहर हो गया तीन पहर हो गया चौथा पहर आया सूर्यास्त का समय जब रामचंद्र मारने के लिए सोचे और इधर तो हनुमान जी के रोमांच हो रहा आंखों से आंसू गिर रहे श्री राम जय राम जय जय राम नाचने लगे अब क्या हो भक्त की प्रतिज्ञा रहे कि भगवान की प्रतिज्ञा रहे तो महाराज दुर्भाषा जी आ गए देखने के लिए कि अभी मारा कि नहीं मारा तो उधर हनुमान जी नाच रहे उनकी आंख से आंसू गिर रहे उनके शरीर में रोमांच हो रहा उधर रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण ज्यो का त्यों उनकी आंख से भी आंसू गिर रहा उनको भी रोमांच हो रहा और दुर्भाषा जी ने आकर देखा सो तो उनका क्रोध पानी पानी होके गल गया हो गल गया बोले राम बस बस अब मारने की जरूरत नहीं है ये तो भक्त के शरणागत है वो भक्त के शरणागत उधर महाराज अर्जुन ने शरण में तो ले लिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे परंतु जब मालूम हुआ कि उधर कृष्ण ने इसके बध की प्रतिज्ञा की है तो आप क्या करें अब तो अर्जुन मुंह लटका के बैठे बोले अब हम मर जाएंगे शरणागत रक्षा की हमारी जो प्रतिज्ञा है वो टूट जाएगी अब क्या करें इसी बीच में सुभद्रा आ गए उनकी पत्नी क्या मुंह लटका के बैठे पत्नियां तो डांटती भी है ना इनको महाराज जन्म सिद्ध अधिकार है डांटने का तो, तो आपने सुना कि नहीं एक वकील का छोटा सा लड़का था उसने जाके अपने बाप से वकील से शिकायत की कि हमारी मम्मी ने हमको मारा है ऐसे किया है वैसे किया है